मेरे शंकर बहुत बाहर रहे अब घर में लाऊंगा मेरे शंकर बहुत बाहर रहे अब घर में लाऊंगा शिवाला है हृदय मेरे यही सा दर बिठाऊंगा शिवाला है हृदय मेरा यही सा दर बिठाऊंगा जहाँ या वान गणपति है जहाँ है भक्ति तन या जहाँ आवान गणपति है जहाँ है भक्ति गिरी तनया जहाँ है नाद का नंदी वही तुम को बुलाऊंगा मेरे शंकर बहुत बाहर रहे अब घर में लाऊंगा हरी में नयन की जो भरा है प्रेमा जल से भगवन तुम्हें भी तरह भीतर बस उसी से मैं नहलाऊंगा गा तुम्हें बाल पे जब शांति का चंदन तभी मन क्रम वचन की विल्लपत्री भी चढ़ाऊंगा दिया है ध्यान के लव का उसी से आरती होगी उठेगा शब्द अनहद में वही घंटा बजाऊंगा तुम ही हो और मैं ही मैं हूँ मैं ही मैं तुम्हें तुम हो न तुम हो और न मैं हूँ यह निराली रट लगाऊंगा है अब जो वाक दासो हम ये तब हो जाएगा सो हम जभेदा कार के तम को कृपा पा कर हटाऊंगा तभी कार के तम को कृपा पा कर हटाऊंगा दहन में जो कि है मोहन दहन में जो कि है मोहन रहन भी जब वो आएगा तभी मैं में हो अपने विश्वेश्वर को पाऊंगा मेरे संग कर बहुत बाहर रहे अब घर में लाऊंगा शिवालय है हृदय तेरा शिवालय है हृदय तेरा शिवालय है हृदय मेरा यही सा दर बिठाऊंगा यही सा दर बिठाऊंगा अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम आज तलक विख्यात है राम राज का नाम समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान प्रभु का भी कर रही थी पिता सममान चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे क्षत्रिय शासन के नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे वैश्यों पर था व्यापार भार भंडार देश का भरने को शूद्रों में था सेवादि भाव उपकार देश का करने को सदगुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ गृह को उन्नति अति देते थे रहता था वान प्रस्थ वर्ग तप करने में तीर्थाटन में सन्यासी तत्ववेता हो लगते थे ब्रह्मराधन में पुरुषों का दल पुरुषार्थी था फिर सागर सद्भावों का था चोला तो मनुज जाति का था आचरण देवताओं का था देवियाँ देवियाँ थी सच्चे जो पति को ई समानती थी गृहिणी का मर्म जानती थी माता का धर्म जानती थी विद्वान सभी था प्रजावृंद खोए अनपढ़ अज्ञान न था ऊंचे दल में अभिमान न था नीचे दल का अपमान न था शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा राजा अपना आनंद करे रोते चिल्लाती रहे प्रजा यह थान नौकर मालिक है निपनाम मात्र का निपवर है मर जाए प्रजा अकाल पड़े टल सकता नहीं राज कर है अब भी संतोष जनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम तो राम राज्य की ही उपमा उसको तुरंत देते हैं हम कहना यह है वह राजतंत्र हो चुका हमारे भारत में जिसके सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में जीव जंतुओं तलक का होता था नितनाय गुरु सम्मत गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश कहा अठारह व्यक्ति है, है जिनसे संबंध राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध मंत्री खजांची सेनापति वेदनदाता व्यापार सचिव युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारागर सचिव नाई रसोईया अभिभावक दुर्राज्ञा कहने वाला दरोगा वैद्य महा महल वाली जोड़ी पर नित रहने वाला है यह अठारह राजयंग इनका विचार रख राजा अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा कर्तव्य निपत का है यह भी इन सब से बरते नीत सदा चाहे भीतर से हो विरोध बाहर से रखे प्रीति सदा ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका नैतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों राजाओं में भी हुआ करते चौदह दोष नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष अभिमान झूठ आलस्य क्रोध अज्ञान अनित नास्तिकपन इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हठ धर्मी पन मंत्रणा कथन विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना अंतिम चौदहवा विलास भोग मध्यादिक का सेवन नाम इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश तो उसके राजस्व को माने सारा देश यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो निर्दयी घूस लेने वाले यदि गुप्त दूत विचारी हो झूठे संदेश देने वाले यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार नायक षडयंत्री हो यदि भगवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हूँ तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है छोटे छोटे भूलों से ही यह दारुण संकट होता है इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे है प्रजापाल पदवी उसकी इसलिए प्रजा का मान समझे रजनी में रजधानी देखे दिन में सच्चा नायेश्वर हो जैसे विशेष हो आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो शासन का मर्म समझता हो ईश्वर के नियम मानता हो किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुरु परिपूर्ण जानता हो तो शासन के देवी सदैव निसंकट निर्भय रहता है तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है